वर्ण अग्नि वर्ण वर्णमयी माँ पचास वर्णों से जो मातृता बनती है हर से लेकर हर अक्षा वो मातृका ही माता है मैंने स्वरों के रूप में लड़ों के रूप में उनसे बने हुए पदों के रूप में वाक्यों के रूप में ये करते वास्तव्य की वर्षा करने वाले अमृत रस खिलाने वाले भगवद गीता अम्बा उनका विवाद भगवान का हृदय है भगवान को भी साकार रूप देने वाली यही है यदि ये अम्बा न हो मां न हो तो भगवान का भी कोई नहीं जान सकता यही स्वतंत्र पराभाग के रूप में रहते हैं मूलाधार के रूप में आते हैं मन पूरा मध्यमा बात के रूप में आते हैं पंचम और वैश्वी वाणी के रूप में आते हैं मुख में इनको कहो पराबात कहो मूल सरस्वती कहो जयगंबा कहो ईश्वर की अंबा कहो ईश्वर की माँ कहो इसी से जो गीता का निरूपण करते हैं या स्वयं कर्मनावस्य मुख परमार्थ भगवान ने ये कहा कि गीता तो हमारे हृदय में से बाहर निकले कोई प्रकाशित हो जाओ ऐसा भगवान ने कहा या स्वयं पद्मनाभक के मुख पद्मा को निश्चित ये स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रदर्शन है अर्थात गीता का ज्ञान पराधीन ज्ञान नहीं है ईश्वराधीन ज्ञान नहीं है स्वतंत्र ज्ञान है अपौषय ज्ञान है ये श्री कृष्ण के द्वारा भी निर्मित नहीं है ये ईश्वर के द्वारा भी निर्मित नहीं है ये जीव के द्वारा भी निर्मित नहीं है ये अनादि अथवा विषय ज्ञान है जब जब श्री कृष्ण अवतार होता है प्रत्येक वापस में तब तक ज्ञान वही एक ही ज्ञान और श्री कृष्ण के अवतार अनेक अनेक श्री कृष्ण में जो एक ज्ञान होता है प्रकट होता है उसका मुक्ति है इसी से कृष्ण रचना नहीं करते हैं जाते हैं रचना करना दूसरी चीज है और गाना दूसरी वस्तु है बड़ा बनाया पहले का करना गा हो जाता है तो संगीत कहने का अभिप्राय ये मधुर है ये ललित है जिसमें स्वर है ताल है व्यवस्था है मर्यादा है संगीत अमर्यादित होने पर संगीत नहीं होता उसमें स्वर ताल लय ज्ञान जातियां स्वास्थ्य सब व्यवस्थित होने चाहिए गीता का ज्ञान समग्र रूप में व्यवस्थित है मधुर है गंभीर है और ये स्वतःस्कृत ज्ञान है परिस्थितियां बदलती हैं समय बदलते हैं पर ये नृत्य संगीत है हमेशा ही उपयोगी होता है जो अनुपयोगी होता है उसको लोग छोड़ते जाते हैं हमारे उपाध्याय पंडित श्री श्रीनिवास शास्त्री जी ने लिखा है इसी प्रसंग में ये काम लोगों ने क्यों छोड़ दिया है उसमें तो दिया है संस्कृत में अनुपयोगित उसका कोई उपयोग नहीं है जिस वस्तु का उपयोग नहीं रहता है उसको परंतु ये गीता का जो योग है ये सर्वदा उपयोग करने के लिए है जहाँ जीवन है वहाँ गीता का उपयोग है जीवन और गीता का उपयोग एक साथ जुड़ा हुआ है बहुत भूमिका न मित्र मित्र का संवाद है अर्जुन के मन में उदासी आई विशाल हो उन्होंने कहा मैं अस्वस्थ से एक मन से श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर को संभाल के रखती हुई घूम के अर्जुन के खंडे पर आते मत तो किसी निश्चय की घोषणा लिए नहीं करना चाहिए सलाह को कर हैं मेरी बुद्धि का अर्जुन ने कहा मेरी बुद्धि का हमने सब कुछ सलाह दो मैं उसको मानूंगा शिष्य से साधना प्रबंधन तुम मित्र की तरफ सलाह मत करो गुरु की तरह हजरत शिक्षक श्री कृष्ण ने अर्जुन को भांति भांति से समझाया दसवें अध्याय के अंत में कह दिया अथवा बदमई के में तीन ध्याते में सवार विश्व मदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत संपूर्ण जगत को विश्वस्त करते अपनी मुक्ति में रखते धरती से मैं कहता हूं अपनी जगह पर कुछ तो मत दृढ़ ये देव रुद्रा पृथ्वी से परिणाम हमारी हजा के प्रकृत हो जब रसीला प्रभावित रहता है तेज तेजस्वी रहता है वायु प्राण देता है आकाश वकाश देता है संपूर्ण जगत मेरे एकांश के द्वारा सब संवृत अपनी अपनी मर्यादा में स्थित होकर सकता है अच्छा संपूर्ण जगत को स्थिर रखने वाले स्तब्ध रखने वाले मर्यादा में रखने वाले तुम हो अरे ये बात तो बड़ी दुख थी कह ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन का रहस्य गुप्त से गुप्त बात तुमने हमको बता दी यही बात ग्यारह में बताए थे प्रवेश करते हुए अर्जुन उवाचन मदद उद्रहार परम गुरुजीमत्म संगीतम जत्तोत्तम वचस्तेन भोपोयम दिल భవాత్మీయూతానా శృతౌ విస్తరసూత్రాక్ష మహాత్మ్యమతి చార్యం దేవమేతత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర దృష్టవచ్చాదేశ్వరం పురుషోత్తం మన్యసేయం తత్సత్యం మయా ద్రష్టుమిలో अर्जुन का कहना है कि जो बात जो वचन मुझसे तुमने कहा वो केवल मुझ पर अनुग्रह करने के लिए हाँ। बोलने का तो मैं अपने किसी स्वार्थ से नहीं कहा अपनी ख्याति के लिए अपने लाभ के लिए नहीं अपनी पूजा के लिए नहीं था केवलम अनुग्रहाय केवल अनुग्रह करते अच्छा भी अनुग्रह करके ऊपर हो नहीं मैं तो यही अनुभव करता हूँ ये अनुग्रह केवल मुझ पर है मदन ग्रह मदन ग्रह मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ये बात वैसे अनुग्रह शब्द जो है वो ये बताता है कि पहले कुछ है उसके बाद अनुग्रह होगा अनुग्रह छोटा भाई इसका बड़ा भाई कोई जैसे अनुमान शब्द बोलते हैं तो उसका बड़ा भाई होता है प्रत्यक्ष प्रभाव और छोटा भाई होता है अनुमान जो प्रत्यक्ष मूलक और प्रत्यक्ष फलक होता है उसको अनुमान कहते हैं प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान होता है और तो निराधार अनुमान नहीं होता तो अनुग्रह का भी कोई आधार नहीं है जैसे अनुज है तो बड़े भाई तो छोटा भाई है अनुज है तो आगे चलने वाले को पीछे चलने वाला है ऐसे अनुग्रह है इसके पहले कुछ चाहिए इसमें भक्तों का और वेदांतियों का थोड़ा सा मतभेद है कहते हैं ईश्वर के सामने एक समस्या है वो किस पर कृपा करें और किस पर न करें यदि कृपा करें तो उनके सब में सत्तर करें और न करें तो किसी पर न करें फिर तो कृपा का कोई अर्थ ही नहीं रहा सार्वजनिक है तो सार्वजनिक है और नहीं है तो बिल्कुल नहीं है तो हमारे आज समाजी भाइयों ने तो कृपा को बिल्कुल अच्छी कार्य कर दी वो तो कहते हैं ईश्वर निराकार और न्यायशील है वो कृपा नहीं करता न्याय करता है अब हम लोगों ने देखा तो ईश्वर न्याय करेगा तब तो हमारे लिए कोई मार्ग नहीं कोई स्थान नहीं इतनी त्रुटियां हैं अपने जीवन में कितने अपराध हैं अपने जीवन में न्याय प्राप्त करके तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ईश्वर में करना अवश्य होना चाहिए यदि वो करना करके हमारा वो ध्यान नहीं करेगा तो ध्यान ऊपर उठाना होता है उदाहरण तो ये है कि नरक से उद्धार कर दिया उद्धार माने जिस स्थिति में हम अटक गए हैं वहाँ से उठा के हमको आगे बढ़ाए सब काम मरने के बाद के लिए नहीं होता है जीवन में भी तो कुछ होता है और इस जीवन में हमको जहाँ हम पिछड़ गए हैं वहाँ आगे बढ़ाए और जहाँ गिर गए हैं वहाँ से उठा ले जो हम नहीं समझते हैं उसको समझा रहे हैं ये नहीं कर सकता ईश्वर को उसमें ईश्वर तो क्या है का ईश्वर है अर्थावाई तब तो व्यवस्था करिए जिस पर अनुग्रह करे और उस पर न करे इसके लिए वेदांत दर्शन में एक अधिकरण है परिश्रम में नहीं दिखने न सापेक्षक तथा भी दर्शक भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते और किसी के प्रति निर्भयता भी क्रूरता भी नहीं करते तो सब क्या करते हैं अनुग्रह करते हैं तो अनुग्रह कैसे करते हैं तो दुर्गम तक अनुग्रहिक जो भगवान का पाँव पकड़ गए उसको वो पकड़ लेते हैं हुआ क्या जो उनकी ओर है उसकी ओर देख के अपनी आंखों में बैठा देता है देखने वाला तो केवल देखता है भगवान तो अपनी आंखों में बैठा लेता है उनको उससे झुकाव उसको सिर्फ उठा के अपने हृदय से लगा देता है उनकी ओर कोई एक कदम चले तो सौ कदम पार करके उसके साथ हमको तो चल जाते बस सम्मुख होना सम्मुख हो ही जीव मन जगह जन्म हो गया बदल ये भगवान का अनुग्रह है अर्जुन ने जब कहा कि शिक्षक थे तो उसको तो पहले गुरु को देखा गुरु का और सोचते आगे वो सोच सकते अच्छा तो हमको गुरु बनाते हमारे शिष्य होते और तुम शोकग्रस्त हो हमारे होकर दुखी रहोगे तो हमारी बदनामी होगी तो दुनिया की बात ये मैंने जैसे अपने गुरु की बदनामी न हो अपने इष्ट की बदनामी न हो अपने पिता माता की बदनामी न हो ऐसा ख्याल तो के लिए तो मेरे होकर और तुम शोक करोगे तो लोग मेरा करना ही पसंद नहीं करेंगे भक्ति संप्रदाय का ही लोक हो जाएगा मेरा होना और दुख है तो एक साथ करेगा तो बड़ा अनुग्रह किया मेरे मुझे पकड़ मुझे अपना बना दे अनुग्रह माने अपना बनाना अनुग्रह क्या किया किस रूप में किया तुमने कुछ वचन कह दिए मुझको कैसे वचन कहे तो परम गुर्जियम अध्यात्म संगीपम ये वचन गुर्ज है गुर्ज माने गोपनीय है जैसे मनुष्य अपने शरीर के कुछ स्थान को वस्त्रों के द्वारा जूहन करके छिपा करके आवृत करते रहते हैं ऐसे ये पता जो तुमने कहे वो तो परम योग्य है परम योग्य है छिपाने योग्य है भगवत में भगवान ने हाँ, दिव्य शब्द का प्रयोग स्वयं भी बहुत किया है युद्धा है तमाम अनेक परमम में विद्या युद्ध तरफ आ जाता है परम दृष्टि संस्कृत भाषा में परम शब्द का अर्थ ऐसा हो गया परा माँ जिसकी शोभा सबसे बड़ी हो परामर्श जिसमें सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी का निवास हो सर्वश्री हृदय हृदय और परा माँ प्रमा जैसा जश्न जिसमें परम प्रमा सत्य ज्ञान सच्चा ज्ञान यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान जिसमें भरा हुआ हो ऐसा परम वचन परम बुद्ध वचन अच्छा इसका नाम क्या है तो अध्यात्म संगठन इसका नाम है अभ्यास अच्छा भाई मैंने तो बहुत बुद्ध बात तुमको बताए दोनों आपस में बातचीत करते हैं ना कृष्ण तो ने कहा कि अर्जुन मैंने तो तुमको बहुत बुद्ध बात बताई तुम समझ भी गए कि मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर रहा हूँ इसका कुछ नतीजा निकला तो कुछ फल हुआ तो जो श्रेष्ठ वचन होते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं व्यर्थ बोलने के तो लिए अभिप्राय युक्त वचन तो ही बोलना चाहिए वाणी का अपव्य नहीं होना चाहिए अच्छा भाई हमने तो बोल दिया तो इसका कुछ परिणाम निकला कुछ नतीजा नतीजा है परिणाम है में नतीजा शब्द है परिणति का हो गया नती और परिणति में जो फल होता है उसको बोलेंगे नतीजा तो, तो भाषा पुस्तक तो बिल्कुल जगह से निकली है लड़ाई करने वाले भाषा के मूल को तो नहीं जानते हाँ नतीजा निकला इसका परिणाम निकला और नो हो या विगत हो ये जो हमारा भोग है ये विगत की वस्तु हो गया भूत में कभी भोग था अब नहीं है नो या विगत हो मोह शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में चित्त की विपरीतता मोह वैचित्य हाँ, जब चित्त विपरीत हो जाता है आत्मा को शरीर समझना भी मोह है शरीर को आत्मा समझना भी मोह है और फिर ये जो हमारे जन्म से पहले की चीजें हैं उनको अपनी समझना हो है मत मानो भर्ती है शादी है सोना है तुम्हारे जन्म से पहले है वो तुम धरती पर पैदा हुए और धरती को मेरी मानकर हम धरती से ऐसा मानकर धरती की सेवा करो हम माते पुत्र हैं तो पुत्र का कर्तव्य होता है माँ की सेवा करना माँ को मेरी मानकर अपनी इच्छा के अनुसार उसको बताना ये तो कर्तव्य नहीं होता है ये मोह है क्या है ये मेरे ये मेरे ये मेरे सब ईश्वर से हैं ये करो तब भी करेगा सब स्वयं प्रकाश के दोनों तो ये भी करेगा परंतु ये मेरी और ये तेरी करके अपने हृदय को कठोर बना लेना और अपने हृदय में हिंसा को स्थान देना है ये मोह है मोह अर्जुन के कारण जोरा मोह भेट गया फल निकला का हमारा मोह इसलिए निकला कि आपने बड़ी युक्ति से समझाया ऋतु का नाम श्रुतौ विस्तर सो गया कमलपत्राक्षर महात्मे कमल पत्राक्षर ये के लिए श्री की सुंदरता पर और सुंदरता में भी आग पर ये अर्जुन की दृष्टि है आग से आग मिले कमल पत्राक्षर कमल करके इनसे नेत्र है अर्जुन की दृष्टि कहा है दुष्ट की आंख पर उनके इशारे पर देख रहा है मैंने तुम्हारे लक्ष्य सुना कि संसार की उत्पत्ति और प्रलय कैसे होता है भवन भवन होने का नाम है भवन और अब अक्षय दुख जाना सो जाना प्रदेश हो जाना तो ये संसार के जितने प्राणी हैं ये कैसे जन्म जाते हैं और कैसे इनका प्रलय हो जाता है ये मैंने इनसे सुने यहाँ एक अद्भुत कम ध्यान जाता है महत्व परिषद में है भूषा नाम एक सर्वज्ञ नाम एक सर्वेश्वर भूषा नाम ये जो परमेश्वर है ये सर्वज्ञ है सर्वेश्वर है और संपूर्ण प्राणियों का जन्म और प्रलय यही है माने इसी में इसी से सबका जन्म होता है और इसी से इसी में सबका प्रलय होता है मैंने वेदों में भी सुना है मांडू के उपनिषद भी यही बोलता है श्रोतऊ उपनिषद ही श्रोतऊ लेकिन वो उपनिषद तुमने स्वयं मुझे सुनाई और वो भी विस्तार है और अपनी महिमा भी सुनाई महात्म अभिचार अपनी विभूतियाँ सुनाई अपना योग सुनाया क्या वैभव है भगवान का सूर्य नक्षत्र ग्रह तारे ये पृथ्वी ग्रह रहती है शक्ति नहीं है धारणी ये जल है आप प्यारणी शक्ति है भगवान की प्रकृति देती है ये तेज है ये तेजस्वी भगवान की प्रकाशनी शक्ति है वायु है प्राणनी शक्ति है आकाश है ये श्रावणी शक्ति है भगवान मैंने तुम्हारी ये अद्भुत महिमा अव्य महिमा जिसका कभी व्यय नहीं होता वो मैंने तुमसे सुनी असल में असल पत्नी संस्कृत का ही है न सड़क जैसे शरीर बनता है जल के लिए शरीर का पुरुष धातु से बनता है उससे असल शरीर बनता है न सड़क जो कभी अपने स्वरूप से विचलित न हो च्युत न हो उसको असर करेंगे यथार्थ असल में क्या हुआ लोग बाहरी आदमी से बात करते हैं तो दूसरे की चर्चा करते हैं वे ऐसे हैं वे ऐसे हैं वे ऐसे हैं और अपनी बात किसी को जब बताई जाती है तो अपनी बात बताना सबके लिए संभव नहीं है मित्र के लिए ही संभव है जैसे कोई बता रहा है कि हमारे पास कितनी पूंजी है कितने हीरे कितने मौके हैं आप सब लोग को तो दिमाग में जानते हैं ये बात सबको नहीं बताई जाती बल्कि उनको तो ऐसा मालूम है कि कहीं कहीं पति अपनी पत्नी को भी नहीं बताते हैं पत्नी अपने पति को भी नहीं बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या है तो अपनी बात जो श्री कृष्ण ने बताई ना अर्जुन को एक तो बड़ी दुर्लभ बात है कि सत्य क्या है ईश्वर क्या है यथार्थ क्या है श्री कृष्ण ने अपनी ओर इशारा करके उंगली सारी अपने हृदय की ओर रखते ये है सत्य अपनी महिमा बताई अव्य महिमा ये आत्मा की जो महिमा है ये अव्य है कभी इसका व्यय नहीं होता जितना भी करो आत्मरूप से ईश्वर का बोध होगा अनुभव होगा क्योंकि बाहर की जो चीज होगी वो कभी आएगी कभी जाएगी अपना आता तो आता है जाता है अव्यय महिमा किसी की है हाँ, तो आत्मा की है और श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बता दिया अच्छा मैंने तो बता दिया अगर तुमको कैसा लगा अरे तुमको ऐसा तो नहीं लगता कि झूठ मूठ भी हम गए मित्र की बात कर रहे मित्र के मन में ऐसा लग सकता है कि देखो इसे आसने मियाँ मिट्टू बन रहे हैं अपनी तारीफ अपनी तारीफ अपनी तारीफ सात सौ श्लोक है गीता में और सात सौ से भी अधिक बार अस्मत शब्द का प्रयोग है अहम माम मया मम मई सात सौ से भी अधिक सात सौ श्लोक है किसी किसी श्लोक में तो चार चार पांच पांच बार अस्मत शब्द का प्रयोग है मई एवं मना दक्ष मई बच्चों ये वशिष्ठ मई एवं ऐसे मन मनाव मद भक्तो मद जाति मान माम नमस्कुरु युवती मधु पांच बार एक एक श्लोक में पांच बार मैं मैं मैं तो कठिन है तुमको अर्जुन ऐसा तो नहीं लगता कि ये मैं मैं मैं करके बस अपनी सारी अपनी प्रशंसा के फूल बांधते जा रहे हैं दिन हाथते जा रहे हैं और अर्जुन का नाम है एवं यथार्थत्व आत्मान परमेश्वर हे परमेश्वर तुमने अपने आप को जैसा बताया है ये जैसा तुमने अपने को बताया है ये हमेशा ये बात ऐसी है तुम परमेश्वर हो एक योगी भी यदि झूठ मूठ कोई बात करे एक भी झूठ मूठ कोई बात करे तो वो भी सत्य हो जाती है ये योग दर्शन की सिद्धि में हो और सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश कर तो जब जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो बिना किए क्रिया का फल मिल जाता है इसका अर्थ क्या है कि यदि उसके मुंह से कोई बात निकल गई तो वो सच्ची होकर रहेगी तुमको साक्षात परमेश्वर हो जब योगियों की बात इतनी पक्की होती है तो तुम्हारी बात पक्की हो उसमें तो सुनते ही क्या है तुमको तो परमेश्वर हो दृष्टमिच्छा के रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम जैसा तुमने अपने को बताया है तुम्हारे उसी ऐश्वर रूप को जैसे ईश्वर से ऐश्वर होता है वैसे ईश से ऐश हो जाता है तो तुम्हारे उस ईश्वरीय रूप को देखना चाहते हैं संबोधन देखो कमल पत्राक्षर के शुरू किया सुंदरता केवल सुंदर ही किसी को कहा जाए बड़े सुंदर हैं हाँ, अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि तो, तो हमने लड़की को देख के प्यार किया है कार्ती को देख के नहीं किया अभी आपने तो यहाँ केवल लड़की की सुंदरता ही नहीं है पारमेश्वर के लिए परमेश्वर हुकूमत है सारी दुनिया का अंत प्रविष्ट साथ का जमाना परम ईश्वर है वो ईश्वरों का भी साथ है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रशासित करने उसका स्वभाव है शीतुम शीलम अस्य स्थिति ईश्वर शील अर्थ में वर्ष करते होता है और ईश्वर नाम अति परम परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश को बचाता बताता दिव्य हरिशाम को रहा है वो तो होते हैं तुम्हारी बात कि कैसे तो हो सकते तो फिर अब क्या करते तो भ्रष्ट नुकसान के रूपम बता तो दिया था ग्यारहवें अध्याय के अंत में संघार में है या तो भ्रष्टों से तत्व ना प्रवेशों से परम एक हुआ ज्ञान एक हुआ दर्शन और एक हुआ प्रवेश तो तुमने ज्ञान तो करा दिया कि तुम कैसे हो परत को अब मैं देखना चाहता हूँ मेरी सभी इच्छाएं को पूरी करके आए हो मेरे लिए त्याग नहीं किया भगवान ने वरदान मांगा हो इंद्र से इंद्र आपका पुत्र है उससे मेरी मित्रता बनी है इंद्र को प्रसन्न करके श्री कृष्ण ने अर्जुन के स्त्री बनाए रखने का वरदान मांगा कौरों के पास संदेश भेज दिया अर्जुन और मैं इन दोनों को जो दो समझते हैं वो मूर्ख है जो अर्जुन का मित्र वो मेरा मित्र जो अर्जुन का शत्रु वो मेरा शत्रु आम वेष्टि समान जिसको आमन समान कृष्ण धनंजय से आत्मा तो मेरे लिए तुमने तो क्या क्या नहीं किया सारथी बन गए हमारे पार्षद हमारी सभा के मेम्बर बन गए पहरेदार बन गए हमारे दूत बन गए राजदूत बन गए हमारे लिए कौरव की सभा में तुमने विराट रूप प्रकट कर दिया स्वागत किया गया है मेरी एक इच्छा और छोटी सी इच्छा है तुम्हारे लिए कोई कठिन नहीं है क्या मैं तुम्हारा वही रूप जैसा तुमने बताया है उसका दर्शन करना चाहता ये मेरी इच्छा है कौन सा रूप देखना चाहते हो ईश्वर ईश्वर रूप देखना चाहता हूँ क्योंकि पहले भी तुमने कई बार कहा पर मैंने ध्यान नहीं दिया मया कतम सर्वम जगदम व्यक्तम रूप नमस्कार सर्वभूता है नता हम तेश्वर नत बस समय ईश्वर ऐश्वर योग की चर्चा तुमने बहुत कहा कौन सा आसन करें कौन सा प्राणायाम करें क्या प्रत्याहार भावना ध्यान करें तो तुम्हारे ईश्वर रूप का दर्शन हो ये मैं उपाय नहीं पूछा मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे उपाय नहीं करना पड़े दर्शन करा दे दर्शन ईश्वर बिना साधन के बिना कैसे तुम दर्शन करना चाहते तो उपाय तो बाद में छोड़ ही जाए पड़ते एक संत से किसी ने आग्रह किया तो उनको शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन करा दे बोले भाई शीघ्र से शीघ्र क्यों तो बोले घंटे भर के बाद तो दुकान पर जा रहा है महाराज नौकरी करनी है ऑफिस में जाना है तो शीघ्रता तो है ऑफिस में जाने की इसलिए घंटे भर के भीतर ही भगवान का दर्शन हो जाना समय ऐसे दर्शन नहीं होता महात्मा ने पूछा अच्छा मान लो तुम्हें भगवान का दर्शन अभी हो जाए तो फिर तुम तो अपना जीवन कैसा व्यतीत करोगे दूसरे वाले ने कहा भगवान का हृदय सेवा करो दर्शन तो दर्शन के बाद सेवा ही तो करोगे भजन ही तो करोगे तो दर्शन के पहले क्यों नहीं करोगे वही काम अभी से करो जो बाद में करना है वो अभी से करना शुरू कर दो बाद के लिए क्यों रखना तो पुरुष एक तो पुरुष उत्तम उत्तम पुरुष का सुधार ये कि वो किसी को वो बाहर की जान में नहीं बताता है ये नहीं कि ये करो तो ये होगा उसके पास जाओ तो ये होगा तो उसको जो कर सकता है उसको कर देता है पुरुषोत्तम का स्वभाव जो है वो दूसरे के पास भेजना नहीं है अन्य पुरुष होता है प्रथम पुरुष बोलते हैं संस्कृत तो दूर होता है और कोई मध्यम पुरुष होता है वो पास होता है लेकिन उत्तम पुरुष तो अपने आत्मा में ही होता है ना हम सह होता है प्रथम पुरुष अन्य पुरुष और स्वम होता है मध्यम पुरुष और अहम होता है असलत जो है वो होता है उत्तम पुरुष तो तुमको उत्तम पुरुष हो मेरे मैं हो इसका मतलब ये है कि यदि तुमने कभी कोई साधन करके अपने आप का दर्शन किया और साक्षात्कार किया तो जो तुमने किया है उसका फल हमको दे दो और यदि तुमने बिना किसी उपाय के ही स्वयं अपने आप को जानते हो कि मैं पुरुषोत्तम हूँ तो जैसे तुम स्वयं जानते हो अपने को वैसे हमको भी स्वयं जला दो कुछ उपाय साधन करने की जरूरत नहीं है हम नहीं करेंगे हमको तो तुम्हारा रूप अब अर्जुन के मन में आया कि मैं तो जरा उत्थक निवेदन कर रहा हमारी योग्यता है कि नहीं इस पर विचार किए बिना एक सज्जन एक के पास गए हो बोले कि उनको सात लाख रुपया दे दो हम जो सेवा का काम करेंगे हमारे सामने की बात है सेफ तो नहीं है लेकिन वो माने वाले सज्जन तो है तो उन्होंने कहा कि तुमने कितनी गाय तक रखी है उनकी क्या सेवा की है गायों के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है हमारे पास कोई आवे कि एक फैक्ट्री उनसे करवा दो तो हम पूछेंगे कि तुम्हारा क्या अनुभव है तुमने कितनी गाय पाली है गायों के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है अपनी योग्यता भी तो देखनी चाहिए तुम तुमको ईश्वर रूप का दर्शन कराओ तुम देख सकोगे कि नहीं बोले ये बात समझते है करती हुई गलत हो गए गलत शब्द भी संस्कृत कहेगा गलत गलत गलत मन से यदि तक मया सरस्वी नीति पर हो योगेश्वर तत्व में परशुरात्मा मैं अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता मैंने अपनी इच्छा को प्रकट कर दे लेकिन एक प्रभु प्रभु कहने का अर्थ है कि यदि मैं योग्य नहीं हूँ तब भी तुम दर्शन तो करा सकते हो क्योंकि प्रभु समर्थ हो प्रभु शब्द संस्कृत में समर्थ होता है यदि उस रूप का दर्शन आप मेरे लिए शक्य मानते हो जोगेश्वर तत्व में दर्शयात्मा हे योगेश्वर योगेश्वर कार अर्थ यदि कोई उपाय करना हो जो मन उपाय वैद्य लोग तो कई दवाओं को मिलाते हैं तो उसको योग बोलते हैं और योगी लोग तो आत्मयोग को ही योग बोलते हैं अनात्म योग को ही योगी लोग योग बोलते हैं गीता में भी योग को योग होता है कल बुद्धि दुख संयोग योगम योग संयोग दुख के संयोग के योग का नाम योग है तो अनात्म प्रकृति और प्राकृत वस्तु से जो योग है उसको योगी लोग योग कहते हैं उद्योग माने एकाग्रता भी होता है और जुड़ना भी होता है समाधि के अर्थ में भी योग शब्द है और जुड़ने के अर्थ में भी योग शब्द है योगेश्वर तो यदि एकाग्रता से दिखता हो तो हमको एकाग्र बना दो और यदि तुम्हारे आलिंगन से तुम्हारे स्पर्श से होता हो तो भी कर दो लेकिन अपने आत्मा अव्य आत्मा का दर्शन अविनाशी आत्मा का दर्शन मुझे कराओ मेरे मन में बड़ी इच्छा है यदि मैं योग्य नहीं हूँ दर्शन के तो मुझे योग्य बना दो श्री भगवान नाना विधान दिव्यानी नाना प्रति पश्चा विद्या पशु विद्या ये नहीं बोले कि मैं तुमको कोई बता करो आसन प्राणायाम योगा करो जाओ आजकल लोग कुछ योगा बोलते कई जगह व्यायाम करते हैं ना कोई कसरत जो शारीरिक करते हैं उसको भी जोड़ना पड़ेगा भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम योग करो बोले की या देखो पहला शब्द बोले कश्य मैं कार्य रूपा देखो देखने तो से तो ऐसा मालूम पड़ता है कर गए तो एक पर मैं मानव रूपाणी पश्य मेरे रूपों को देखो लेकिन मैं रूपाणी के स्थान पर मैं पास करके गजब कर दिया इसका होता मेरे प्यारे मैं पश्य के बाद मैं हो जाता है मैं तो मन रहता तो बोले पश्चिम में पार्थ पार्थ पार्थ का मतलब है प्रथम शीश जो धातु है पृथ्वी में जो धातु है पृथ्वी में जो धातु है पृथ्वी में जो धातु है जो वस्तु है सब बड़ी हो अर्जुन तुम ब्रह्म से एक होने वाले हो मुक्त होने वाले हो तुम विश्वासमा से एक होने वाले हो खास दूसरा आपको प्रथा मारे सुनती उसके फिर विस्तार और तीसरा अर्थ है सात स्थिति का परमात्मा स्व एवं अर्थो जैसे असल का जो तो केवल परमात्मा को चाहता है जैसे तुमने तो इच्छा प्रकट की अपनी ये इच्छा प्रकट नहीं थी जो मैं गौरव पर विजय प्राप्त करूँ मैं राज्य की स्थापना करूँ तुमने तो केवल ये इच्छा प्रकट की कि तुम्हारे स्वरूप का दर्शन हो जाए मेरे प्यारे साथ देखो मेरे रूप देखो ये स्वरूप है जो देख रहे हैं सतसत सहस्र सत सैकड़ों हजारों माने असंख्य अगणित जो रूप हम देख रहे हैं ये भगवान का रूप है जिनके द्वारा भगवान का निरूपण होता हो उसको रूप कहते हैं रूप कहते अने रूपम जिसके द्वारा हम समझ सकें कि भगवान कितना बड़ा है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है उसकी आयु कितनी लंबी है उसके अंग प्रत्यंग कितने बड़े हैं जिनके द्वारा समझ सके उनका नाम रूप है देखो मेरे रूप हजार जैसे जादूगर बोलता है देख

विशेष अवधान के किसी वस्तु के अवधान के लिए जो विशेष रीति विशेष प्रकार होता है उसको विधा बोलते हैं धारणा ठीक ठीक अवधारणा हो जाए किसी वस्तु की उसकी रीति का नाम होता है विधा इनकी रीति अलग अलग है एक आम का पेड़ है एक बड़ का पेड़ है और एक नारायण अंजूर की लता है एक धरती है एक पानी है परंतु ये सब के सब एक परमात्मा को दिखाने वाले दिव्य है सब में दिव्यता भरी हुई है नाना वर्मा इनके रंग रूप की निराले हैं वर्ण माने रंग और आकृति माने आकार जो है जैसे एक आदमी का रंग सावरा है या गोरा है या पीला है वो तो है वर्ण और आकृति वो है जो आड़ी है कि टेढ़ी है कि लंबी है नाक मुकीली है कि चिपकी है ये आकृति है वो हाथ का मुकीली होना या चिपकी होना ये तो आकृति है और वो गोरी है कि काली है ये उसका वर्ण है रंग है को देखो नाना प्रकार के रंग देखो नाना प्रकार की आकृति देखो सबकी सकल सूरत बिल्कुल अलग अलग सबका नाम रूप अलग अलग सबका आकार अलग नाम रूप क्रियात्मक समग्र प्रपंच देखो क्या है ये मेरा ईश्वर रूप है बहुत क्या प्रजा ये है सत्य रूप में मैं प्रकट हो रहा हूँ केवल लौकिक ही नहीं जो कुछ अलौकिक है सो भी देखो कश्यादित्यान वसु अब कल जाओ